ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादश अध्याय छठ श्लोक के ऊपर विशेष विचार चल रहा था सारे गीता का तात्पर्य कर्म में है या आत्मज्ञान में है या दोनों मिल करके है मोक्ष किससे होगा ये प्रश्न है केवल कर्म से होगा अथवा केवल आत्मज्ञान से होगा या दोनों मिल करके होगा तो दोनों की चर्चा है वेदा विनाश निवृत्ति आदि चर्चा है ज्ञान को लेकर कर्मण्य कर्मण्यवाधिकार से कर्म की चर्चा है भगवान ने कर्म की प्रशंसा की है द्वितीय अध्याय में और ज्ञान की भी चर्चा प्रशंसा की है तो मोक्ष का साधन कर्म भी दिख रहा है कर्म देवाधिकार के आधार पर और वेदा विनाशनम नृत्यम एनम अभ्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घात कम इसके द्वारा दिख रहा है ज्ञान से मोक्ष है अच्छा दोनों के आगे तो दोनों सम्मिलित होकर भी मोक्ष दे सकते हैं वह मिलकर ये तीन प्रकार के यहां प्रश्न चल रहे थे उसी उत्तर देते देते लंबा समय मीमांसा वो कर्मवादी है वो कर्म से ही मोक्ष होता है कहना चाहते हैं और वेदांति ज्ञानवादी है ज्ञान से मोक्ष होता है तो स्थिति में विचार चल रहा है दोनों का मीमांसा के साथ में विशेष विचार चल रहा है निष्कर्ष ही निकलेगा ज्ञान से मोक्ष है कर्म से नहीं ये बना है तो पूर्वादि ने कहा मीमांसा को से आया माने विधि शास्त्र प्रमाण है स्वर्ग काम यजित तो वाक्य प्रमाण है श्रुति है वो तो प्रमाण है शरीर से आत्मा को भिन्न यदि नहीं जानता हो तो स्वर्ग संबंधी कर्म नहीं कर सकता लौकिक कर्म तो करेगा यहाँ के खेती की किसान आदि काम करेगा कृषि आदि काम तो हो सकता है शरीर को आत्मा मान के हो सकता है तो पारलौकिक जो कर्म करता है ज्ञाति कर्म करता है परलोक में फल मिलना है शरीर परलोक जाएगा नहीं तो वहां तो आत्मा ही होगा कर्ता उस कार्य का कर्ता तो आत्मा ही होगा तो आत्मा में कर्तृत्व तो है मुख्य कर्तृत्व तो है ये मीमांसकों का तर्क है सिद्धांत अरे बाबा उसके जो प्रामाण्य है ना श्रुति में जो प्रामाण्य है स्वर्ग स्वर्ग आदि फल के लिए जो प्रामाण्य आता है स्वर्ग का विजित वाक्य में वो तो केवल साध्य साधन भाव में प्रमाण है सूत्र में किस में शब्द में स्वरूप राम यजित में कर्ता के बारे में चर्चा नहीं है केवल स्वर्ग के साधन याग है इतना बता रहा बाकी तो अदृष्ट जो फल वाला होगा वहां फल और साधन के संबंध दिखाने का वाक्य आत्मा के बारे में चर्चा ही नहीं है करता है अकर्ता है क्या है चर्चा ही नहीं है उस वाक्य को देखते हुए उसका उस अवस्था में आत्मा को लेकर तो उदासीन हो वाक्य कौन वाक्य स्वर्ग काम लेकर तो वाक्य तो साथ ही साथ भाव को प्रकाश कर रहा है जब पारलौकिक फल के लिए क्या क्या प्रत्यक्ष प्रमाण जब उपलब्ध नहीं होगा प्रत्यक्ष के द्वारा जाना नहीं जा रहा है तो उसके होने पर उस अग्निहोत्र आदि के साथ साधन संबंध में प्रमाण होती है जहां प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय न हो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय न हो उपलब्धि नहीं हो रही हो उस स्थिति में अग्निहोत्र आदि साध्य साधन भाव का प्रकाश करेगा वो वाक्य कौन अग्निहोत्र आदि बात करता है न प्रत्यक्ष आदि विषय या अहम करके देह में आत्मबुद्धि कर्तृत्व बुद्धि प्रत्यक्ष है अहम करता कुछ भी काम करता है तो मैं करता हूं बोलता है किसको लेकर शरीर को लेकर प्रत्यक्ष श्रुति प्रमाण नहीं होती यहाँ तो प्रत्यक्ष है अहम करता शरीर में आत्मबुद्धि लेकर के यज्ञ आदि कर रहा है तो शरीर में आत्मबुद्धि पे कर्म नहीं कर पा रहा कौन यज्ञ आदि कर अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय इत्यादि वहां है उसके बिना नहीं होता ये कहा <clears throat> तो उसमें मुख्य आत्मा है वो तो उदासीन भाव में वो श्रुति के द्वारा उदासीन है उस आत्मा को नहीं जानना चाहिए देहादि संघात में गौण करता मानना ठीक नहीं इत्यादि कहा था सिद्धांत हम्म। क्योंकि देखा गया है मिथ्या ज्ञान झूठा ज्ञान अन्यत्र अन्य बुद्धि मिथ्या ज्ञान जैसे रज्जु में सर्वबुद्धि मिथ्या ज्ञान इसलिए आत्मा में शरीर बुद्धि मिथ्या ज्ञान मनुष्य बुद्धि आत्मा में मिथ्या ज्ञान है तो दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्त से देखा गया है मिथ्या ज्ञान यहां निमित्त लेकर गए ऐसा जो ज्ञान होता है उसको देहादि संघात में गौणतम कल्पे तुम न सकते में कहा था सिद्धांत ने देहादि संघात में गौण कर का कर्तृत्व माना गौण मानना संभव नहीं मुख्य तो करता आत्मा है देहादि में जो अहम करो बुद्धि होती है गौण है ऐसे पूर्वादि बोल रहा है वो ठीक नहीं है क्यों चाहे एक श्रुति क्या सैकड़ों श्रुति आकर के बोले कि आत्मा करता है करता है यदि बोल भी दे श्रुति कभी बोलती नहीं नई श्रुति शतम अभी शीतो अग्नि अप्रकाश व्रुवत प्रमाण होगी हजारों श्रुति सैकड़ों श्रुति आकर बोल के अग्नि ठंडी होती है और प्रकाश नहीं अग्नि में ऐसे बोलने में क्या प्रमाण आएगा श्रुति में क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध हो रहा है अग्नि कैसा है उष्ण है और प्रकाशवान है प्रकाश रूप है तो ऐसे श्रुति के बोलने पर वाक्य को प्रमाण नहीं आएगा यदि बोलती हो तो श्रुति बोले तभी प्रमाण नहीं आए यदि बोलती भी है तो अर्थांतर की कल्पना करनी पड़ेगी क्या करें भाई विषयांतर की कल्पना श्रुति में प्रमाण लाने के लिए तो बोलती भी हो अग्नि सीता सीतम अग्नि हाँ, अप्रकाश होगा इसलिए बोलती हो तो माने अर्थांतर की कल्पना अन्य विषय को बोल रही कुछ यदि आत्मा को कर्ता मानती हो श्रुति मानती नहीं कभी भी यदि मानती भी हो तो औपाधिक कर्ता मानना हो क्या होगा गौण कर्ता मुख्य कर्ता नहीं मान सकते इसी के लिए पुष्टि कर रहे हैं ठीक है यहां तक के तो हो गए आगे की बात है आया श्रुतेर असंभावित दोष आया देखो तो पुरुष प्रणित जो ग्रंथ होता है वह कोई ना कोई संभावित दोष वाले दोष होता ही है कोई ना संभावना है उसमें अर्थ लिप्सु आदि कोई दोष हो सकता है अर्थ लिप्सा दोष अर्थ लिप्स दोष आदि हो सकता है संभावना है किंतु अपौर से स्तुति किसी द्वारा बनाया हुआ तो है नहीं तो उसमें कैसा है असंभावित दोष है कोई संभावित नहीं कोई दोष संभावना नहीं है श्रुति में पौरुषीय ग्रंथ में दोष की संभावना है पुराण आदि जो भी हमारे पौरुषीय ग्रंथ में आते हैं तो की संभावना है क्या लिखने वाला व्यक्ति कोई पागल तो नहीं था अथवा ठग तो नहीं था संभावना दोष की संभावना दोष होता ही है बात नहीं है किंतु क्यों लौकिक वाक्य माने यथार्थ भी होता है अयथार्थ भी होता है आप्तवक्ता अनाप्तवक्ता दो होते हैं लोक में कभी कभी सत्य भी बोलता है कभी झूठ भी बोल जाता है व्यक्ति आप्त भी बनता है अनाप्त भी बनता है किंतु जो शास्त्रीय वाक्य होगा वो माने वेद का वाक्य आप ही होता है ईश्वर तत्वात कहा हुआ नहीं आया ईश्वर ने कहा उसको ईश्वर को भी झूठ नहीं बोले किसी लेन देन नहीं उसको हम्म। स्मर चलाना आदि है ना उसको झूठ बोल करके किसको ईश्वर से क्यों झूठ बोलेगा ईश्वर का वचन है ये झूठ होने की संभावना नहीं है ये कह अपौरुषे या हया श्रुत है जो अपौरुषे श्रुति उसके असंभाव्य दोष आया जिसमें संभावना नहीं दोष थी ऐसा श्रुति की मानांतर विरोध भी यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरोधी होता हो प्रत्यक्षादि प्रमाण से देह में कर्तृत्व तो दिख रहा है किंतु श्रुति बोलते हो आत्मा करता है आत्मा करता बोलती भी हो तो स्थिति में विरोध प्रामाण्य अप्रत्याख्यान फिर भी उस श्रुति में प्रामाण्य त्याग नहीं करना चाहिए प्रामाण्य रखना चाहिए बचाना चाहिए ये बोलते हैं आज श्रुति बोलती हो कहीं आत्मा करता है करता है बोलती हो फिर भी अप्रामाणिक नहीं मान श्रुति अप्रामाणिक नहीं करना क्यों श्रोता को वहां समझ करके अर्थ हो क्या विषयांतर में प्रयोजन है इसका अर्थांतर में प्रयोजन है श्रुति का तात्पर्य निकालना चाहिए यही कह रहे हैं यदि पुरुयात यदि श्रुति बोले क्या बोले शीतो अग्नि अप्रकाश होगा बोल भी देती हो गए कोई भी श्रुति ऐसे बोल नहीं सकती है अग्नि को ठंडी होती है और प्रकाश रहित होती है वो नहीं बोल सकती कोई बोल भी दे मान लो तुष्य दूर दिन सामने वाला खुश हो जाए प्रियश्री तो अग्नि अप्रकाश हुआ तथापि फिर भी अर्थांतरम श्रुतिर विवक्षित विषयांतर समझना पड़ेगा उसको श्रोता को अन्य कोई विषय को लेकर के कहा है श्रुति उसका तात्पर्य कहीं और है यह समझना पड़ेगा कार्यक्रम ऐसी कल्पना करनी चाहिए विवक्षितम कल्पना जो बोलना इष्ट हो वही कल्पना श्रुति का अर्थ करना यदि बोलती हो आत्मा करता है बोलती हो तो उसके विवक्षित अर्थ समझना पड़ेगा श्रोता को अर्थांतर में कोई तात्पर्य है इसका क्यों प्रामाण्य अनुसानुपत्य है नहीं तो श्रुति में प्रामाण्य नहीं आएगा यदि विरुद्ध बोलेगी वास्तव में विरुद्ध अर्थ लेती हो तो श्रुति में प्रामाण्य नहीं आएगा प्रामाण्य अनुपत्य न तो प्रमाणांतर विरुद्ध अंश बदन बा प्रमाणांतर से विरुद्ध अर्थ श्रुति बोले और अप, अपने वचनों का ही विरोध बोले अपने वचन ये अग्निशीतो अप्रकाशन से इत्यादि बोले अपने वचनों का विरोध है अच्छा प्रमाणादर से विरुद्ध बोल दिया अथवा अपने वचनों को विरुद्ध बोल दिया तो श्रुति में प्रामाण्य नहीं आ सकेगा तो श्रुति में प्रामाण्य लाने के लिए यदि आपको लगता हो कि ये श्रुति माने अग्नि घोषणा करके विरोध बोल रही है तब भी वहां अर्थांतर की कल्पना करनी चाहिए श्रुति में प्रामाण्य लाने के लिए श्रोता तो को काम करना होगा यदि करता है आत्मा बोलती है वास्तविक करता आत्मा बोलती श्रुति बोलती हो औपाधिक करता हमें वहां अर्थ करना चाहिए क्या करना चाहिए आत्मा करता है आत्मा करता है यदि श्रुति ने बोलो कहीं बोला नहीं गए यदि बोलती हो तो औपाधिक करता उपाधि को लेकर उपाधि शरीर है शरीर में के सान्निध्य के कारण से कर्तृत्व दिख रहा होगा ये मानना होगा यदि बोलती भी हो तो कर्मकांड में आत्मा को कर्ता मानती है श्रुति बोलती है तो औपाधिक कर्ता मानना चाहिए तो औपाधिक कर्तृत्व से वास्तविक कर्तृत्व कहानी नहीं होती ये कहा हुआ है कर्मणो मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृकत्वाद कर्तुर अभाव श्रोतर अपमान फिर एक आपके मत में हाँ, वेदांति के मत में मीमांसा कह रहे हैं कर्मो मिथ्या प्रत्यवत कर्तृकत्वाद कर्म का कर्ता कौन होता है मिथ्या ज्ञान वाला होता है किसमें शरीर में आत्मबुद्धि वाला होता है मिथ्या प्रत्यय में ज्ञान मिथ्या ज्ञान वाला करता होता कि, कर, किसका करता कर्म का करता शरीर में आत्मबुद्धि लेकर के कर्म होता है तो लोग मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृत्वात कर्म जो होता है मिथ्या प्रत्यय मान ज्ञान मिथ्या ज्ञान वाला कर्ता वाला होता है कर्म कौन होता है उसके द्वारा किया जाता है कर्म शरीर में आत्मबुद्धि वाले के द्वारा कर्म किया जाता है और शरीर में आत्मबुद्धि मिथ्या है मिथ्या ज्ञान है उसको तत्पूर्वक कर्म होता है तो आपके मत में वेदांति मत में कर्तूर अभाव करता है ही नहीं वास्तव में मिथ्या प्रत्यय वाला करता मिथ्या ज्ञान वाला करता करता होता नहीं वो कर्म उसी से होता मिथ्या ज्ञान वाला कर्ता से कर्म होता है शरीर आज में आपको बुद्धि वाला जो करता होगा उसी से कर्म होता है तो मिथ्या कर्म हो माने तो कर्म जो है मिथ्या प्रत्ययवत मिथ्या प्रत्यय वाला मिथ्या ज्ञान वाला कर्तृकत्व वो कर्ता वाला कर्म होता है होने से कर्तुर अभाव है जो करता रहा ही नहीं वास्तविक करता तो है ही नहीं कोई मिथ्या करता कोई करता थोड़ी होता झूठा करता रज्जु का सर्व सर्व नहीं माना जाता तो कर्म का कर्ता का अभाव होने से कर्म वैदिक कर्म नहीं हो पाएगा तो आप तो मिथ्या मानते हैं ना हाँ, जो देहाभिमान युक्त होगा मिथ्या ज्ञान वाला वही करता होता है कर्म का करता ही मानते आप अहम ब्राह्मण बोलने वाले कर्म का करता होगा अहम सच्चिदानंद आत्मा बोल यदि भावना आ गई तो करता नहीं बन पाएगा वो शरीराज में आत्मबुद्धि को मिला करके बोलता है हम कहता बोलता है तो कर्म लोग मिथ्या प्रतिबद्ध कर्तृत्वाद कर्म का कर्म उसी के द्वारा किया जाता है जो मिथ्या ज्ञान वाला व्यक्ति होगा शरीर आदि में आत्मबुद्धि वाला इसलिए कर्तुर अभाव है वास्तविक करता रहा है आपके यहां तो इसलिए श्रुति अपराध कर्मकांड श्रुति अपरामण जो तो वो करता है ही नहीं करता नहीं तो कर्म नहीं हो पाएगा स्वर्ग आदि फल भी नहीं फिर स्वर्ग काम यजन वाक्य क्या काम आएगा करता है नहीं आपके मत में वेदांति के मत में तो कर्मकांड श्रुति में अप्रामाण्य आ जाएगा पूर्वादी बोल रहा है प्रामाण्य नहीं होगा श्रुति को अप्रामाण्य करना ठीक नहीं है इसे कर्ता मानना पड़ेगा आत्मा को क्या मानना होगा हाँ, पूर्व नियम आपसे नियमाक्ष कहेगा आत्मा को कर्ता माने बिना पारलौकिक कर्म कर नहीं सकता तो वेदांति मत में तो आत्मा आत्मा में कैसे का है कर्म कहाँ होता है मिथ्या प्रत्यवत कर्तृकत्व बोला है मिथ्या ज्ञान वाले कर्ता में होता है या झूठा ज्ञान हो रखा है अन्यत्र अन्य बुद्धि हो रखी ऐसे कर्ता से शरीर से होगा शरीर में आत्मबुद्धि करके काम करता है तो इस स्थिति में वास्तविक कर्ता नहीं मिलेगा कर्म करने वाला कर्ता का अभाव होने से अभाव है श्रुतेर अपरामाण्यम श्रुति में तो अपराम कौन सा श्रुति कर्मकांड पर एक श्रुति कर्मकांड पर एक श्रुति अप्रामाण्य गया तो ज्ञान कांड पर श्रुति अप्रामण हो जाएगी कैसे होगी अनुमान से हम सिद्ध कर देंगे मीमांसा को बोलेंगे उसी समान है कौन श्रुतित्व तो दोनों में है किसमें ज्ञान कांड दोनों श्रुतित्व है ज्ञानकांड हाँ, ज्ञान कांड अप्रामाण्य हम वो भी अप्रामाण्य श्रुति अप्रामाण्य श्रुतित्व कर्म कांड श्रुतिवत हो जाएगा अनुमान वो भी चला जाएगा तो आपके भी नहीं बचने वाला है यदि करता नहीं मानेगा आत्मा को तो ये तो मीमांसा कहने जा रहे हैं शंका आगत सिद्धांत कहते हैं ना ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्व उत्पत्ति कहते हैं अरे बाबा ब्रह्म ज्ञान में अर्थशाली हो जाता है आप अकर्ता आत्मा कौन सा आत्मा हाँ, कर्ता का अभाव ब्रह्म विद्या में हम ब्रह्माष्टमी में अर्थार्थ हो जाता है कर्ता का अभाव कर्ता के अभाव में श्रुति अप्रामाण्य कर्ता को अभाव देखा कर ही आत्मा में आत्मत्व तो सिद्ध करती है श्रुति तत्वमसी आदि श्रुति ऐसा करती है उसमें प्रामाण्य रह जाएगा श्रुति में प्रामाण्य नहीं आएगा आपको कहा ज्ञान कांड पर जो तो श्रुति में प्रामाण्य है कर्मकांड श्रुति में अप्रामाण्य आ भी जाए तो ज्ञान कांड वाली श्रुति में प्रामाण्य है इस सिद्धांत ने कहा ठीक है मैं स्वार्थम रहे क्या श्रुते श्रुति अपने विषय को मान ज्ञान कराती है अपने विषय को ज्ञान कराती हुई श्रुति श्रुति अविरोधापेक्षत्वाद उसको अविरोध की अपेक्षा है श्रुति को क्या है हाँ। अविरोध होना चाहिए क्यों कर्मकांड पर श्रुति क्या करती है आत्मा को कर्ता मान रही है अपना अर्थ का ज्ञान कराएगी अविरोध पूर्वक होना चाहिए अविरोधापेक्षत्वाद वृद्धार्थवादी थे यदि श्रुति विरोध बोलती हो आत्मा करता है आदि करेंगे वृद्धार्थवादी तो तत्परिहार आया उस विरोध के परिहार के लिए खंड श्रुति में विरोध ना आ जाए स्थिति के लिए विवक्षितम अर्थांतरम अविरुद्धम तो श्रुति में जो विवक्षित होगा कोई विषयांतर कहने में तात्पर्य उसका यह समझना होगा श्रोता को उसका विषय वो नहीं होगा जो बोल रही है अन्य प्रमाण के द्वारा विरोध हो रहा ऐसा बोलती हो जैसे शीतो अग्नि बोलती हो अब प्रकाश हो बोलती है अग्नि उस स्थिति में विषयांतर की कल्पना कर अरे बाबा उसको श्रुति का कहने का मतलब है ठंडी के दिन है बर्फ गिर रहा है हाँ, आज तो अग्नि भी ठंडी हो गई ऐसा बोलते हैं काम नहीं कर रही अग्नि का काम जैसा होना चाहिए नहीं बेटा तो शीतो अग्नि बोल दिया जाता है ठंडी के वजह से किसकी वजह से आज ठंडी है कारण में तात्पर्य होता है उसका क्या होता है और हाँ, ठंड है उसमें तात्पर्य होता है अब प्रकाश हुआ धुंधा आ गया बहुत तुम कोहरा आ गया जैसे गाड़ी चलती है तो सामने नहीं दिखता अग्नि अप्रकाशित है माने धुंधा आ गया तात्पर्य होता है क्या होता कोहरा आ गया तात्पर्य होता है इस अंतर की कल्पना करनी चाहिए कोई आप तो वक्ता ऐसा बोल देता हो शीतो अग्नि बोलता हो विषयांतर की कल्पना करनी चाहिए श्रोता को आप बहुत के वाक्य को अनाप्त तो नहीं कर सकता अप्रामाण्य घोषित नहीं कर सकता श्रुति आप्त है तो बोलती हो शीतो अग्नि बोलती हो माने या करता आत्मा करता है बोलती भी हो बोलती नहीं श्रुति यदि बोलती भी हो तब भी औपाधिक कर्ता में ले जाना चाहिए अन्य को अन्य अन्यत्र का कर्तृत्व अन्यत्र आत्मा में भाषा समझना चाहिए ठीक है हाँ, इसलिए कहा स्वार्थम श्रुति है अपने अर्थों को ज्ञान कराते स्तुति ऐसे श्रुति का अविरोधापेक्ष वो अविरोध की अपेक्षा रखती है अपने अर्थों को पता ज्ञान कराने की क्या रखती है अविरोध की मानी प्रमाणांतर से विरोध न हो यहां प्रमाणांतर से विरोध हो रहा आत्मा को कर्ता श्रुति यदि बोलती हो तो, तो प्रमाणांतर बोल रहा है अहम कर्ता शरीर में आत्मबुद्धि से कर्ता मान रहा है केवल आत्मा में करता कर्ता नहीं मान रहा प्रमाण कौन प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभूत हो रहा है शरीर में दिखता है कर्तृत्व विरुद्धार्थवादी तो यदि श्रुति विरुद्धवादी होती हो तो तत्परिहार आया उस विरुद्धता को त्यागने के लिए विवक्षितम अर्थांतरम अविरुद्धम विवक्षित होगा पक्तुम इष्टम विवक्षितम जो बोलना इष्ट होगा जो विषयांतर अविरुद्धम अविरुद्ध विषयांतर होगा जो तस्या स्वीकृत जो श्रुति का तात्पर्य विषयांतर में है समझना चाहिए यदि विरुद्ध हमारे दृष्टि में श्रुति विरोध बोलती हो ऐसा लगता हो तो विषयांतर की कल्पना करनी चाहिए श्रुति का तात्पर्य इसमें अन्यत्र है ये कहा हुआ करते कहते विरोधे तत्प्रमाण अनुपत्ति विरोध आएगा यदि श्रुति में प्रमाणांतर से विरोध आएगा तो प्रमाण नहीं आगे श्रुति में प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा है शरीर को कर्ता मान रहा हम कर्ता दिखाता है और मीमांसा कहते हैं आपका करता है कहा न तो इत्यादि कहा था न तो प्रमाणांतर विरुद्ध सुवचन विरुद्धम बहुत प्रिया यही है प्रमाणांतर से विरुद्ध हो स्वभजन से विरुद्ध हो ऐसे श्रुति यदि नहीं बोल सकती बोलेगी यदि तो विषयांतर की कल्पना होती वहां ठीक कहा था ठीक है भाई अविद्यावत कर्तृकम कर्म अविद्यावान करता है जिस कर्म का बहुग्री समास है अविद्यावान कर्ता यश कर्म जिस कर्म का कर्ता को, हो अज्ञान वाला हो अज्ञानी हो जिस कर्म का कर्ता तो या उपवाद मैं त्वया मैंने वेदांति ना वेदांति ने क्या माना है कर्म के कर्ता कौन अज्ञानी होता है कहा हुआ आपने क्या कहा हम तो बोलते हैं ज्ञानी है मीमांसा हम है हम कहते हैं ज्ञानी है कौन कर्म का करता जान करके करता है काम देवादि को जानता है कर्म के स्वरूप जानता है अब कहते हैं अज्ञानी करता होता है वेदांति का तात्पर्य होता है न जानना आत्मज्ञान का अभाव वाला कर्म करता है और इनका कहना है देवादि को जानने वाला करता भेद है दोनों अविद्यावत कर्तिकम कर्मा अविद्या वाला जो करता है वही कर्ता वाला कर्म होता है इसी त्वया उपवाद वेदांति न स्वीकारात वेदांति ने स्वीकार किया हुआ होता है अज्ञानी कर्म के करता होता है कहा हुआ है उत्पन्न आयाम विद्यायाम जब आपके यहां जब ज्ञान उत्पन्न हो जाए ना उस स्थिति में अविद्या अभावे अविद्या का अभाव होने पर ज्ञान उत्पन्न हो गया अज्ञान का अभाव हो गया तो तदहीन कर्तुर अभाव अज्ञान के अधीन होने वाला जो कर, करता नहीं रहा जो अज्ञान के अधीन करता था अज्ञानी करता होता था जब ज्ञान उत्पन्न होगा जिस काल में उस काल में अविद्या नहीं रहेगी अज्ञान हट जाएगा हटने पर अज्ञान के अधीन जो करता था करता रहा ही नहीं वेदांति के मत में और अंतरेण कर्ता अनुष्ठान कर्ता के बिना कोई अनुष्ठान हो नहीं पाएगा स्वर्गादि आगा हो नहीं पाएगा वेदांति के मत में यह स्थिति है क्यों अज्ञान के अधीन कर, करता कर्म होता है अज्ञानी कर्ता के अधीन होता है अज्ञान के अधीन करता है जो ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश होने पर क्या स्थिति आएगी कर्ता का अभाव हो जाएगा अज्ञान जन्य कर्ता नहीं रहा कर्तृत्व तो नहीं कर्तृत्व तो नहीं तो आगे कर्म नहीं हो पाएगा स्वर्ग आदि संबंधी कर्म नहीं हो पाएगा तद अंदर कर्ता के बिना कर्मकांड श्रुते विद्युत या पूर्वम तद अंतरिणाम कर्तारम अनुसार सिद्ध हो कर्ता में अनुष्ठान होना नहीं मिलेगा क्यों कर्ता अनुष्ठान करता था कर्म का करता रहा ही नहीं अज्ञान की निवृत्ति का कारण कर्तृत्व भी चला गया कर्मकांड अप्रामाण्यम कर्मकांड में अप्रामाण्य आएगा क्या आएगा हाँ ये मीमांसक कह रहे कर्ता के अधीन कर्म है अज्ञान के अधीन करता है ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश हो गया आपके यहाँ होने पर अज्ञान नहीं रहा अज्ञान नहीं रहे तो उसका जो तजन्य कर्तृत्व भी नहीं है कर्तृत्व नहीं है तो कर्म नहीं हो पाएगा तो क्या कर्म न होने पाने से श्रुति में अपरामाण है क्यों कोई रहा ही नहीं विषय उसका कर्ता भी नहीं कर्म भी नहीं कुछ स्वर्ग का काम भेजे तो किसके लिए बोलेगी वो श्रुति अप्रामाण्य आएगा अध्ययन विधि विरोधा स्वाध्याय तब्य ऐसा कहा हुआ है अपने स्वाध्याय में वेद वेद का अध्ययन करना चाहिए तो सभी वेद का अध्ययन करने में अब इस तरह से कर्मकांड पर वेद का अध्ययन नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है कर्ता नहीं मिल रहा है कर्म करने वाला कर्म नहीं हो पाएगा तो स्वाध्याय स्वाध्याय का अध्ययन करना किसके लिए था कर्म को जानने कर्म का स्वरूप आदि जानने के लिए था कर्म करने के लिए था तो स्थिति में स्वाध्याय अत्यतव्य जो विधान हुआ है विधि वाक्य स्वाध्याय अध्यतव्य तब्यत प्रत्यय विधि में ये अप्रमाणित हो जाएगा तो वेद में अप्रामिकता प्रामाणिकता आ जाएगा ये करना ठीक नहीं इसलिए आत्मा को कर्ता मानना चाहिए ये मीमांसा कह रहे हैं इति संकते कहा पूर्वादि यह शंका करता है कर्म इत्यादि कहा था कर्मो मिथ्या प्रत्यपत कर्तिकत्वात कर्म जो है मिथ्या ज्ञान वाला कर्ता वाला कर्म होता है मैंने शरीर आदमी में जो आत्मबुद्धि मिथ्या ज्ञान वाला जो कर्ता वो कर्ता से कर्म होता है ऐसा कर्ता वाला होता है कर्म इत्यादि कहा था कर्तुर अभावे जब आपके यहाँ वेदांति के मत में क्या होगा आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश हो जाएगा अज्ञान नाश कर्ता नहीं मिलेगा कर्म कर्म करने वाला कर्ता नहीं रहेगा तो श्रुते का ब्राह्मण स्वर काम यजत आदि स्थिति में अप्रामाण्य आ जाएगा ठीक है उस स्थिति में क्या होगा अध्ययन विधि का विरोध होगा स्वाध्याय अध्ययन करता नित्य अध्ययन करना चाहिए श्रुति को बोल रहा है और यहां श्रुति व्यर्थ हो रही है कर्ता के अभाव के काल में ठीक गए हाँ, तो उसके साथ विरोध होगा स्वाध्याय अध्ययन का ये पूर्वाज ने कहा है सिद्धांत कहते भाई कर्मकांड श्रुतिर विद्योदया पूर्व व्यावहारिक प्रामाण्य से तात्विक प्रामाण्य वहां पर भी समभाव सिद्धांत बोलते देखो कर्मकांड श्रुति में प्रामाण्य है कब ब्रह्मज्ञान होने के पहले कब हाँ, पहले यही कहते हैं कर्मकांड श्रुति विद्योदयात आत्मज्ञान के पूर्व विद्योदया पूर्वम ज्ञान उदय होने के पहले जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक हाँ, कर्मकांड श्रुतेर व्यावहारिक प्रमाण से व्यावहारिक प्रमाण से संभव है आगे तात्विक प्रमाण वास्तविक प्रमाण्य नहीं है कर्मकांड श्रुति में क्या है तो व्यावहारिक प्रमाण्य है तो कहा स्वाध्याय अद्वित में कहा निरर्थक होगा सार्थक है तब तक तो करता रहेगा कब तक पूर्व अवस्था में कर्मकांड विधि प्रामाण्य है तो उसका अभाव नहीं कर्ता का अभाव नहीं बनेगा ये सिद्धांत कहा अज्ञानी तो बंदा रहेगा तब तक ब्रह्मज्ञान श्रुत तात्विक प्रमाण से जो ब्रह्मज्ञान है आत्मज्ञान वाला श्रुति है तत्वशी आदि महावाक्य है अथवा आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्ध्यास्त वाक्य आते हैं ये ब्रह्मज्ञान स्तुति है वह तात्विक प्रामाण्य उसमें तात्विक प्रामाण्य है किसी वास्तविक प्रामाण्य है किसमें कर्मकांड श्रुति में व्यावहारिक प्रामाण्य कैसे प्रामाण्य हाँ। और ब्रह्मकांड श्रुति में तात्विक वास्तविक प्रामाण्य ब्रह्म विद्या जनक क्यों तात्विक प्रमाण है ब्रह्म विद्या का वो जनक है क्यों ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने के बाद उसका बाधक कोई नहीं मिलता वो प्रमाण है कौन ब्रह्म विद्या प्रमा है प्रमात्मक को उत्पन्न करने को प्रमाण बोलते हैं इसलिए वो में प्रमाण है आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य विधिराधि श्रुति में प्रमाण इसलिए है वो ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करते क्या ब्रह्माकार वृत्ति पैदा करती है वो तो और वो वृत्ति पैदा होने पर कोई बाधित नहीं कर सकता उस वृत्ति को इसलिए ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है वो कौन ज्ञान हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति जो बोलते हैं वो प्रमाण होने पर शुद्ध में प्रमाण आएगा शुद्ध में प्रमाण दे तो कैसे प्रामाणिक बना हो जाए उसको बारह ज्ञान को आ नहीं सकता जैसे देहादि में जो आत्मबुद्धि है इसका बाधक ज्ञान है कौन अहम ब्रह्माष्ट बुद्धि बाधक ज्ञान है अहम ब्रह्माष्ट बुद्धि को कोई बाध नहीं सकता तो उसके जनक है कौन ब्रह्मकांड श्रुति ज्ञान कांड वाली श्रुति उसको पैदा करने वाली है अहम ब्रह्मास्मि पैदा करती है तो जब ज्ञान में बाधक नहीं तो उसके प्रमाण में बाधक नहीं उसको बाध नहीं कर सकते अहम मनुष्य को बात करने वाली बुद्धि है ज्ञान है कौन अहम ब्रह्मास्मि एक अमा तात्विक वास्तविक प्रमाण है ब्रह्म विद्या में और कर्मकांड विधायक श्रुति में व्यावहारिक प्रमाण है जब तक ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं होती आत्मज्ञान नहीं होता उसके पूर्व अवस्था में प्रामाण्य है स्वर्ग भी है नरक भी है सब कुछ है तब तक कोई अप्रमाण नहीं स्वर्ग आदि बताने वाले शास्त्र सब सकते हैं प्रमाण है जैसे स्वप्न में जो भी वस्तु हम देखते हैं सुनते हैं करते हैं सब प्रमाणिक है कब उस काल में और देखने वाले चक्षु प्रमाण मैंने देखा बोलता है किसी के साथ बोलता तो मैंने देखा बोलता कहा अवस्था में एक दूसरे को बोलता है मैंने देखा मैंने ऐसा खाया पिया सब बोलता है प्रमाण उस काल में जब जागृत में आएंगे तब अप्रमाण होगा ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान को अवस्था में कर्मकांड श्रुति स्वर काम जत पुत्र काम जाते जितने में आएंगे प्रमाणिक है पूर्व अवस्था में देहात्म बुद्धि काल में किस काल में जब तक देहात्म बुद्धि रहेगी तब तक प्रामाणिक है आत्मबुद्धि बुद्धि जब हट गई हो ब्रह्मात्म बुद्धि में पहुंचा हो उस काल में अप्रामाणिक है जैसे स्वप्न में जो प्रमाणिक पदार्थ थे जागृत में अप्रामाणिक हो जाते हैं ठीक है कहा कर्मकांड सुखदेव विद्योदयात पूर्व व्यावहारिक प्रमाण से तात्विक प्रमाण भावी संभव कर्मकांड सुख में व्यावहारिक प्रमाण संभव है तात्विक प्रमाण तो नहीं वास्तविक प्रमाण नहीं मानने पड़ती है ब्रह्मकांड श्रुत है सब ब्रह्मकांड श्रुति है मारे ज्ञान कांड वाली श्रुति जितने हैं वह तात्विक प्रमाण से ब्रह्म विद्या जनक तात्विक प्रमाण क्यों मानते हैं उस ब्रह्मकांड श्रुति को ब्रह्म विद्या का जनक है हम ब्रह्माष्टमी का जनक है वो उसी के द्वारा हम ब्रह्माष्टमी वृत्ति बनेगी उपवर्णत्वात वह सिद्ध हो जाती हो न अध्ययन विधि विरोध अध्ययन विधि का विरोध कहां है स्वाध्याय अध्यतव्य दोनों में चरितार्थ हो रहा है कहां कर्मकांड श्रुतियों में भी क्यों ब्रह्मज्ञान के पहले पहले तक कर्मकांड सत्य मान के चलते हैं चल रहा है वहां तात्विक तात्विक उसको क्या व्यावहारिक सामान्य है तो स्वाध्याय अध्ययन माने अध्ययन करना व्यर्थ नहीं हुआ कर्मकांड में चरितार्थ हो जाता है तब तक और ज्ञान उदय होने पर ब्रह्मकांड में चरितार्थ हो जाएगी श्रुति कौन स्वाध्याय तो बस आदि को तो श्रुति है ना स्वाध्याय भी है स्वर्गाम भी स्वाध्याय है दोनों चरितार्थ हो जाए सिद्धांत परिहार खंडन करते हैं न कहा न ब्रह्म विद्या अर्थवत प्रत्यय कहते जो कर्ता का श्रुति में प्रामाण्य कहा जाएगा ब्रह्म विद्या में ब्रह्मज्ञान उत्पन्न करने में प्रामाण्य आ जाएगा ये कहा जाते हैं कर्मकांड श्रुते तात्विक प्रामाण्य भावे ब्रह्मकांड श्रुति भी तद असिद्धि अविशेषाधीन समय पूर्वाधि मीमांसा बोलता है यदि कर्मकांड में वास्तविक प्रामाण्य नहीं है तो ब्रह्म कांड में वास्तविक प्रमाण प्रामाण्य नहीं है श्रुति तो श्रुति है सवाल है दोनों ये कहते ब्रह्मकांडम ये अनुमान देगा ब्रह्मकांड श्रुति हाँ। प्रामाण्य अभाव होती प्रामाण्य का अभाव वाली है श्रुति प्रामाण्य नहीं है जो बोलती है उसके हाँ, हाँ। श्रुतित्व श्रुतित्व है श्रुतित्व धर्म तो वहां भी है ना श्रुतित्वाद हेतु बना देना कर्म श्रुति पर जैसे कर्म श्रुति अपराह्मण घोषित किया आपने इस प्रकार अनुमान के द्वारा ज्ञान कांड श्रुति अप्रामाणिक हो जाएगी फिर श्रुति किस काम है स्वाध्याय होते तो कहां आएगा कहां यह प्रामाणिक तो धर्म तो एक ही है कौन श्रुति तो धर्म दोनों में तो हम हनुमान से युक्त करते मीमांसा करते हैं यही है कर्मकांड श्रुति प्रामाण्य भाव होती प्रामाणिक अभाव वाली है वो प्रामाण्य वाली नहीं है वो श्रुति कौन ब्रह्मकांड श्रुति श्रुतित्वात हेतु है श्रुतित्व है ज्ञान कर्मकांड श्रुतिवत जैसे कर्मकांड श्रुति श्रुतित्व होने से क्या रहा आपने सिद्ध कर दिया था प्रामाणिक अभाव वाली तात्विक प्रमाण के अभाव वाली कहा था हम भी तात्विक प्रमाण के अभाव वाली कहेंगे उसको ऐसे मीमांसा ने एक कहा है कर्मकांड श्रुते तात्विक प्रामाण्य भाव है कर्मकांड श्रुत वास्तविक प्रामाण यदि नहीं आए ज्ञान के उदय होने के पहले पहले औपाधिक प्रामाण्य है ऐसा मानेंगे तो कर्मकांड ब्रह्मकांड श्रुते देवी तद असिद्धि तात्विक प्रामाण्य असिद्धि किम असिद्धि वास्तविक प्रमाण की असिद्धि है वहां भी जिस डंडे से हमें हरे ऊपर में मारते हैं हम उसी डंडे से आपको मारते हैं मीमांसक बोल रहे इति है पूर्वादि शंका करता है कर्म विधि श्रुति वक्त ये दृष्टांत है कर्म विधान करने वाली श्रुति है सर्व काम यजुत पुत्र काम यजुत वाक्य है इसके समान कर्म विधि श्रुतिवत जैसे कर्म को विधान करने वाली श्रुति है उसी समान ब्रह्म विद्या विधि श्रुति ब्रह्म विद्या को विधान करने वाली श्रुति है आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास तत्व वाक्य है ब्रह्म विद्या को विधान करने वाली श्रुति अप्रामाण्य चेत अप्रामाण्य प्रसंग आएगा वहां भी अनुमान से सिद्ध हो जाता है हमारे कर्मकांड तो शुरू की समान होगी तात्विक प्रामाण्य वहां भी नहीं है तो फिर स्थिति में जब तात्विक प्रामाण्य दोनों में नहीं है कर्मकांड विधि श्रुति में नहीं और ज्ञान काटे हुए कि स्वाध्याय और अध्यय तभी शुद्धि कहां से अर्थ होगी किस लिए स्वाध्याय करना ये प्रश्न उठेगा एक मीमांसा ने कहा तो श्वेता नहीं ना ऐसी बात नहीं है ब्रह्मकांड सिर्फ तात्विक प्रामाण्य है क्यों बाधक प्रत्यय अनुभव तजन्य जो ज्ञान होगा ब्रह्मकांड श्रुति के द्वारा जो कहा गया ज्ञान है तजन्य ज्ञान उसका कोई बाधक ज्ञान नहीं आता आत्मज्ञान होने के बाद अहम मनुष्य करके कोई जीत नहीं सकेगा उसको बाधक ज्ञान नहीं होता बाधक प्रत्यय नहीं ज्ञान बाधक ज्ञान के उपपत्ति नहीं सिद्ध नहीं हो सकती वहां ब्रह्म ज्ञान होने के बाद और देह में आत्मबुद्धि है कर्मकांड श्रुति के जो विषय है देह में आत्मबुद्धि उसका बाधक ज्ञान है कौन हम ब्रह्माष्टमी ज्ञान हम ब्रह्माष्ट ज्ञान यदि हो गया ब्रह्मकांड श्रुति के माध्यम से तो उसका बाधक ज्ञान नहीं है कोई जो ज्ञान उसका कार्य बाधक किसी के द्वारा बाधित नहीं होता है तो वो भी प्रमाण है कौन ब्रह्मकांड स्तुति प्रमाण है यदि उसमें प्रामाण्य न होता तो यहां अबाधक ज्ञान नहीं हो सकता है अबाध्य ज्ञान नहीं हो पाता यहां अबाध्य ज्ञान हो रहा है तो उसका कार्य जो ज्ञान है वो अबाध्य ज्ञान और किसी को द्वारा बाधित नहीं होता इसे वो भी प्रमाण है कौन तात्विक प्रमाण है कौन तात्विक ज्ञान हो रहा है तो तात्विक प्रमाण है कहा श्रुति में ब्रह्म का एक कहा यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुतिया आत्मा अवगत है जिस प्रकार देखो ब्रह्म विद्या जो श्रुति है विधान करने वाली श्रुति ब्रह्म विद्या का विधान करने वाली श्रुति आत्मा बारे द्रष्टव्य ध्रुटोपंथी इत्यादि श्रुति है ये श्रुति आत्मा ही अवगत है उस श्रुति के द्वारा आत्मा को जान लेने पर मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं इस स्थिति पर उस श्रुति के माध्यम से जानने पर अपने को जानने पर आत्मा ही अवज्ञाते आत्मा को जान लेने पर देहादि संघात है हम प्रत्यो बाध्य थे देहादि संघात में समुदाय में जो अहम बुद्धि होती थी वो बाधित हो जाता है अहम मनुष्य नहीं बोल पाएगा ब्रह्म विद्या विधान करने वाली श्रुति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान विधान करने वाली श्रुति के द्वारा जो आत्मा को जान लिया जिसने आत्मा ने अभिजाते आत्मा को जानने पर देहादि संघादि देहादि अहम बुद्धि नहीं रहेगी उसकी बाधित हो जाती है पहले अहम मनुष्य बोलता था अहम गच्छा में शरीर की क्रिया को लेकर बोलता था अहम पश्यामी चक्षु की क्रिया अपने में आरोप करता था एकता करके उनमें या अहम इनमें हो रहे थे पहले अपने हो सकता क्यों ब्रह्म विद्या विधान करने वाली श्रुति के द्वारा आत्मा को जान लिया है उसने अपना स्वरूप समझ लिया है आत्मा ने अवगते आत्मा को जानने पर देहादि संघात हम प्रत्यो बाध्य थे देहादि संघात में अहम बुद्धि जो होती थी पहले पूर्वावस्था में बाधित हो जाता है तथा आत्मनि वो आत्मा अवगतिर कदाचित केनचित कथनचित भी बाधित न सक्या आत्मा में ही जो आत्मा के ज्ञान हो रहा किसको पहले शरीर आदि में आत्मबुद्धि थी तो आत्मज्ञान से बाधित हो गया किंतु आत्मा में ही आत्मबुद्धि हो जब होती है कहा आत्मा में ही जब आत्मबुद्धि हो वो किसी प्रमाण से किसी के द्वारा भी बाधा नहीं जा सकता कहा आत्मा में ही जब आत्मबुद्धि होगी तथा आत्मनि एवं आत्मा गतिर आत्मा गतिर आत्मा से आत्मा का ज्ञान ज्ञान होगा जब ज्ञान को न कदाचित किसी काल में भी आज तो बाधित होगा आगे नहीं होगा ऐसा नहीं किसी भी काल में कदाचित के रचित किसी के द्वारा भी किसी साधन से वो ज्ञान का बात नहीं कथनचित किसी प्रकार से भी तीनों लगा दिया कदाचित केनचित कथनचित किसी भी काल में और किसी के द्वारा भी किसी प्रकार से बाधितुम न शक्य पूर्व में उसको बात करना संभव नहीं जब आत्मा में ही आत्मज्ञान हो उसका किसी के द्वारा भी किसी भी काल में किसी भी प्रकार से बात करना संभव नहीं है हाँ, देहादि में आत्मबुद्धि थी पहले उसका तो बात करने वाला आ गया था कौन आत्मा में आत्मबुद्धि होने पर हम ब्रह्मास्म बुद्धि के द्वारा बाधित हो गए किंतु आत्मा में ही जब आत्मबुद्धि होती है हम ब्रह्मास्म भाव पहुंचा हुआ है आत्मा में ही आत्मबुद्धि उसका उसको बाधने वाला किसी के द्वारा भी बाधा कभी भी बाधा नहीं सकता किसी प्रकार भी बाधा नहीं सकता कदाचित के रचित कथनचित ये क्यों फल अव्यतिरेक अवगत कहते हैं साक्षात फल है आत्मज्ञान का फल अज्ञान का नाश क्या फल है साक्षात फल है बाध होना संभव नहीं है साक्षात फल है उसका फल अव्यतिरेक अव्यतिर व्यवधान रहित फल है उसका जैसे सूर्य का उदय होना और अंधेरे का नाश होना समकाल में फल है उसका समकाल में व्यवधान नहीं एक क्षण का भी व्यवधान नहीं होगा यदि पहले क्षण में सूर्य उदय होता है अगले का अगले क्षण में अंधकार नाश होता कल्पना करके तो जिस काल में सूर्योदय हुआ उसने तो नाश नहीं कर सका ज्ञान अधेरे को तो आगे क्या आशा करेंगे वो सूर्य अब अधेरे का नाश करेगा यदि पहले अधर नाश हो गया हो उसके बाद सूर्योदय होता हो पहले क्षण में अधेरा चला गया दूसरे काल में सूर्य तो सूर्य ने नाश नहीं किया तो क्या मान्यता होती है वहां समकाल एक ही काल है ठीक इस प्रकार ज्ञानोदय होना अज्ञान का नाश होना देहात्म बुद्धि अज्ञान नाश होना समकाल है फल अव्यतिरेक अवगत कहा वो ज्ञान का फल अव्यतिरेक है व्यवधान युक्त नहीं है साथ साथ है अज्ञान का नाश हो जाता है देहात्म बुद्धि तत्काल चली जाती है अग्निर उष्ण प्रकाश जैसे अग्नि की उष्णता और प्रकाश साक्षरता तत्काल फल है अग्नि में उष्णता बाद में आती हो पहले अग्नि उत्पन्न हो उसके बाद उष्णता ऐसा है क्या अथवा पहले अग्नि उत्पन्न हो कालांतर में प्रकाश आता हो ऐसा नहीं साथ साथ ठीक इसी प्रकार ज्ञानोदय होना आत्मज्ञान होना और अज्ञान का नाश होना साथ है फल है आत्मज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति क्या है यही है फल है उसका उसका बाध करने वाला कोई नहीं मिलेगा अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो सारा शरीर आदि सब समाप्त हो गया उसके कार्य सारे है बात करने वाला कोई नहीं मिल सकता इसी कारण से वह चरितार्थ है कौन श्रुति कर्मकांड श्रुति उस काल में व्यर्थ होने पर भी ब्रह्मकांड श्रुति के लिए स्वाध्याय तो बाकी चरितार्थ हो जाएगा ये कहा यथा अग्नि प्रकाश से कहा जैसे अग्नि प्रकाश अग्नि और ऐसा उष्ण है और प्रकाश रूप है कहना जैसा होता है माने समकाल में है वो फल व्यतिरिक है यानी कि फल बाद में हो अग्नि पहले पैदा हो जाए बाद में उष्णता आ जाए फल अग्नि का फल दाहकता आदि बाद में ऐसा नहीं जैसे उत्पन्न होना वैसे काल दाहकता है अग्नि समकाल में है और अग्नि पहले पैदा होना बाद में प्रकाश आना उसमें पैदा हो रहा ऐसा नहीं है समकाल में है ठीक इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान का नाश में समकाल है समकाल है तो उस ज्ञान को बाधने वाला कोई नहीं अज्ञान बाधित हो गया तो अज्ञान का कार्य कोई भी नहीं रहेगा फिर कौन ज्ञान पैदा होगा उसको बाधने के लिए उसको बाधने वाला कोई भी नहीं इसलिए ज्ञान में अबाधित तत्व तो होने के कारण से उसके जो कारण है प्रमाण श्रुति ब्रह्म विद्या प्रकरण श्रुति प्रामाण्य है तात्विक प्रामाण्य उसमें वास्तविक ज्ञान वास्तविक हो रहा है इसलिए वो प्रामाण्य तात्विक है ये सिद्धांत कहा न चाहे एवं विधि श्रुति अपराण फिर केवल प्रामाण्य ज्ञान कांड भी आ गया श्रुति में तो कर्मकांड श्रुति व्यर्थ हो यह भी नहीं है वो भाई उस ज्ञान के साधन में उपयोगी होते हैं पहले यदि कर्मकांड श्रुति का माने वो नहीं करेंगे अन्वेषण नहीं करेंगे उसके तजन्य कर्म नहीं करेंगे अंतकर्म की शुद्धि होगी नहीं ज्ञान होना दूर रहा उपयोग में है वो ज्ञान होने के बाद भी अनर्थक है वो कब उसके पहले तो काम क्या है आत्मा नदी तैरने के पहले पहले नौका काम का है नदी पार हो गया तो उसकी जरूरत नहीं है ऐसे है कर्म का कर्मकांड आदि भी चाहिए उसके बिना नहीं होगा ये सिद्धांत बोल रहे न तो एवं कर्मविधि श्रुत है प्रमाण तो ज्ञान कांड श्रुति में प्रामाण्य आ गया तात्विक प्रामाण्य तो कर्मविधि में नहीं है कर्मकांड पर श्रुति में वास्तविकता नहीं है प्रामाण्य ऐसा भी नहीं है कहते सिद्धांत ना ऐसा नहीं प्रामाण्य है उन्होंने भी कब पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोध है ना उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जनन प्रत्येगात्मा विपक्ष है ना प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वात कर्मकांड श्रुति इसके लिए है जो स्वरोकांग आदि वाक्य इसके लिए कहता है पहले पहले वाला जो स्वाभाविक प्रकृति थी मैंने पूर्व संस्कार के आधार पर जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती थी जो चाहे खाओ जहां चाहे रहो जैसे चाहे पशुपत जीवन ऐसा होता था स्वाभाविक जो प्रवृत्ति पूर्व पूर्व प्रवृत्ति माने श्रुति के की कराए हुए कर्म में लगने से पूर्व की स्थिति जो थी हमारी पूर्व पूर्व निरोध है ना पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोध के माध्यम से उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जनन आगे आगे की एक अपूर्व प्रवृत्ति पैदा करते हैं कर्मकांड श्रुति क्या करती है स्वर्ग काम भेजेता पहले वाला संस्कार को हटाकर नया संस्कार लाती है उसमें कुछ कुछ तो अंतकर्म शुद्धि होने लग जाएगी श्रुति विहित कर्म करने से तो पूर्व पूर्व अपूर्व प्रवृत्ति जनन से मुख्य है उसके तात्पर्य आत्मा की तरफ ले जाने के लिए होता क्या होता है कर्मकांड पर श्रुति का अंतकर्म शुद्धि के माध्यम से आत्मज्ञान में पहुंचाना तात्पर्य होता है उसका आत्मा प्रत्येगात्मा मुख्य अंतरात्मा के आगे मुख्य करके प्रवृत्ति उत्पाद उत्पाद उत्पादार्थ का प्रवृत्ति के उत्पादन करने देखा गया है मैंने कैसे उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति आत्मज्ञान की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जब शुभ कर्म करने लग जाएगा यज्ञादि कर्म करा शुभ कर्म हुआ अंतकर्म की शुद्धि होती जाएगी ऐसे होते होते आगे करके आत्मज्ञान तक पहुंच जाता है प्रमाण नहीं हो प्रमाण है आत्मज्ञान होने से पहले पहले प्रमाण है उनका ये कहा मिथ्यात्व भी कहते महाराज कर्मकांड श्रुति मिथ्या आपके दृष्टि में जो करता नहीं उसका मिथ्या तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके जाने वाला कर्म मिथ्या है तो उसके द्वारा कैसे प्रामाण्य आएगा किया हुआ कर्म में प्रामाण्य कैसे आएगा कर्मकांड श्रुति मिथ्या ही हो जाती कर्ता के अभाव के काल में किसके काल में करता नहीं उसके वास्तविक करता नहीं है तो फिर मिथ्या जो उपाय है कर्मकांड उसके द्वारा साध्य आत्मज्ञान कैसे होगा यह प्रश्न होता है मीमांसा के द्वारा प्रश्न आता है सिद्धांत कहते हैं मिथ्यात्व उपाय से उपाय से कर्मकांड शुद्ध उपाय है किसके ब्रह्म विद्या में पहुंचाने के लिए उपाय है साधन है मिथ्यात्व की उपाय से जो उपाय मिथ्या होने पर भी साधन मिथ्या होने पर भी उपेय सत्यतया उपेय प्राप्त जो वस्तु है सत्य है कौन आत्मविद्या वो सत्य है क्यों उसका कोई किसी बाध नहीं होता हाँ, उपेय हमारे प्राप्त जो होगा उपाय मिथ्या होने पर भी उपय सत्य है सत्य होने से सत्यत्व में बस याद वो सत्य कर्मकांड में सत्यत्व आएगा क्या आएगा स्वयं मिथ्या होने पर भी उसके जो उपय उसके द्वारा साध्य जो होगा आत्मविद्या वह क्या है सत्य होने के कारण कर्मकांड से सत्य है इसको असत्य नहीं मिथ्या नहीं कर सकते सत्य है यथा ऐसा होगा जैसे अर्थवाद वाक्य आते हैं स्वरोदित ऐसा वाक्य आया और रोया तो वो अर्थवाद है तो क्या है निंदा परक है वो उसका तात्पर्य कहा होता है हाँ। बरिशी रजतम देयम एक बरही नाम का याग होता है उसमें रजत दान चांदी का दान नहीं करना चाहिए उसमें तात्पर्य है केवल अर्थवाद में प्रामाण्य नहीं होता वो रोया में प्रामाण्य नहीं है स्वरोदित वाक्य है वो रोया इसमें तात्पर्य नहीं होता उसका तात्पर्य जो बरिशी नाम का याग है बरिश नाम का याग है उसमें निरभ्यता दान न करे उसमें तात्पर्य होता है स्वतः प्रमाण न होने पर भी अर्थवाद में विधि के साथ में जोड़ करके अर्थ आ गया इसी प्रकार यहां भी कर्मकांड परोक्ष श्रुति में स्वतः अर्थ न होने पर भी प्रामाण्य न आने पर भी जो प्रामाण्य वाले जो आत्मज्ञान हो जाता है प्रामाण्य स्वरूप उसके साथ मिलकर के प्रामाण्य आ जाता है स्थिति है हम लोक में भी देखा जाता है जल में फल दिखाई देता है प्रतिबिंब दिखाई देता है ये मिथ्या है कि सत्य है किंतु इसके द्वारा ठीक इसको ढूंढते जाएंगे तो हमें सत्य फल मिल जाएगा यानी कि सत्य फल होगा तभी तो प्रयोग पड़ा है ठीक ऐसी है स्थिति यही कहते हैं मिथ्यात्व भी उपाय से उपाय मिथ्या होने उपाय मैंने साधन कर्मकांड साधन में आ जाते हैं और ज्ञान तो साध्य है अंतिम जाके ज्ञान होना है तो मिथ्यात्व के उपाय से उपय सत्य थे प्राप्त जो वस्तु होगा साध्य जो होगा सत्य होने के कारण सत्यत्व में एक उपाय भी सत्य ही होगा सत्यत्व ही रहेगा उपाय में यथा अर्थवाद होगा जैसे अर्थवाद वाक्य स्वयं मिथ्या है उसके द्वारा विधि में जाकर के अर्थ करते सत्य विधि सत्य होने में सत्य कहा जाता है विशेष आरम्भ लोके भी लोक में भी दिखाई पड़ता है माने उपाय असत्य होने पर भी सत्य को मिल जाता है सत्य मिलता है सत्य के लिए लोग में भी दिखाई देता है लोग बोलते हैं ऐसे यहाँ सामान्य जन्म प्रयोग लोग भी बाल उत्पत्ता नाम बालक है छोटे छोटे बालक है उसको दवाई पिलानी हो मानेगा नहीं नहीं पिएगा उसको लालच दिखा देंगे तो दवाई पिएगा तेरी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी हाँ लाओ लाओ फिर पिएगा वहां छोटी लंबी होने में तात्पर्य नहीं है उसको रोग निवृत्ति में तात्पर्य होता है किंतु शिक्षा देने लिया जाता है जिन लोगों को उस काल में असत्य में बैठ करके सत्य का अन्वेषण होता है उपाय शिक्षमाणा नाम बाला नाम उपलालना असत्य वर्तमान तथा सत्यम समीहते ऐसा कहा जाए जो शिक्षा में जिसको शिक्षा देनी हो ऐसे बालकों को माने अज्ञानियों को उपाय होते हैं असत्य हम्म। असत्य वर्तवनिष्ठत्व असत्य मार्ग में रह करके तथा सत्य समीह थे उसके बाद सत्य के अन्वेषण करता है ऐसा आया हुआ है लोग भी बालक उन्मत्ता आदि नाम जब बालक हो अथवा उन्मत्त वाले पागल हो इनको पय पयादो पायतव्य दूध आदि पिलाना हो उनको वैसे पीने को नहीं मानेगा नकार करेगा दूध आदि पिलाना हो चाहे बालक हो अथवा उन्मत्त भ्रांत हो इनको दूध आदि जब पिलाते समय में चूड़ा बढ़ आदि बढ़ अरे बाबा तेरी चोटी बढ़ जाएगी ऐसा बोलने पर पिएगा लालच के बारे ये स्वर्गादि जो बताएगा उनको लालच लेके तो ये करोगे तो भविष्य में तुम्हें आत्मज्ञान होगा इसके लिए बताए लालच दे रहा है तभी लगेगा नहीं तो स्वाभाविक कर्म छोड़ेगा नहीं यज्ञादि कर्म क्यों लगेगा नहीं कर सकता यज्ञादि कर्म में लगे बिना आगे उन्नति नहीं होगी उसकी ये उपाय है ये यज्ञादि कर्म उपाय बनते हैं आत्मज्ञान के लिए लोके भी बाल उन्मत्तादि नाम पयाद तभी जो बालक है अथवा उन्मत्त पागल आदि है भ्रांत है इनको दूध आदि पिलाना हो वो मान नहीं रहा हो इस स्थिति में चूड़ा प्रधान आदि बज ऐसा बोलना होता है तेरी चोटी बढ़ जाती है ये पियोगे तो बढ़ जाएगी फिर इत्यादि माने उसको लालच दे करके काम रहा होता है आदि तो का लालच दे करके उसके तात्पर्य अंतर्गण अंतर्गण शुद्धि के तरफ क्या है शुद्धि का तात्पर्य है अंतर्गण शुद्धि बना आगे ज्ञान होगा नहीं ज्ञान में पहुंचाने के साधन होते हैं ये भी निरर्थक नहीं है ये श्रुति भी व्यर्थ नहीं है इसलिए स्वाध्याय जो है व्यर्थ नहीं है सरकार ने कहा प्रकारांतर स्थानांतर अन्य प्रकार मैंने भिन्न स्थान में बैठे हुए श्रुति अपने स्थान में है ज्ञान प्रकरण से पूर्व में आए श्रुति हैं उनका तो प्रामाण्य ही है उस काल में व्यावहारिक काल में का प्रकार स्थान कर्मकाल में स्थित जो श्रुति होंगे वह हाँ। साक्षात प्रामाण्य साक्षात प्रामाण्य उसमें कब कब साक्षात प्रामाण्य होगा प्राग ज्ञान आत्मज्ञानाद आत्मज्ञान से पहले पहले तक कब तक तब तक तो प्रमाण साक्षात है उनमें कोई बात नहीं होगा आत्मज्ञान से पहले पहले तक जो प्रकारांत मत प्रकारांत अर्थ माने जाए कर्मकांड में बैठे हुए जो श्रुति है उनका साक्षात प्रामाण्य है देहाभिमान में तो प्रत्यक्षादि ब्राह्मण जैसे देहाभिमान को लेकर के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रामाण्य माना जाता है प्रत्यक्ष क्या हम मनुष्य कोई बोलता है तो गलत नहीं बोलता किस काल में व्यवहार काल में प्रत्यक्ष है प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है मैं मनुष्य हूं व्यवहार काल में जैसे प्रमाण माना जाता है हम मनुष्य को ठीक इस प्रकार व्यवहार काल में उन श्रुतियों को प्रमाण माना जाएगा कौन कर्मकांड श्रुति को ये दृष्टांत दिया देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण्यवत ये दृष्टांत है देहाभिमान निमित्त जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रामाण्य माना जाए प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रामाण्य माना जाए हम मनुष्य कोई गलत नहीं इस काल में बोल रहे व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध है जैसे यह इस प्रकार कर्म कांड शरीर भी जब तक व्यवहार में है तब तक प्रामाण्य स्वतः साक्षात प्रमाण है वो ज्ञान कांड में देखते समय में परंपरा से प्रामाण्य है साक्षात नहीं है साक्षात काम नहीं आती वहां टीका में टीका से देखते हैं उत्पन्न आया ब्रह्म विद्या बाधका भाव जब ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान उत्पन्न हो तो बाधक नहीं मिलता प्रमाणत्वाद इसलिए वो श्रुति में प्रमाण है तात्विक प्रमाण किसमें प्रमाण तो प्रमाण है ज्ञान प्रमाण माना जाता है जो बाधक नहीं उसका कोई बात नहीं कर सकता इसलिए तद हेतु श्रुते उसका कारण श्रुति क्यों ब्रह्म विद्या है कौन है वो ब्रह्मद्या कारण है ब्रह्म ज्ञान के हेतु श्रुति श्रुति रवि तद असिद्धि माने तात्विक प्रमाण कहा चला जाए हेतु तात्विकम प्रमाण श्रुति में भी तात्विक प्रमाण है ज्ञान में जब तात्विक प्रमाण आ जाता है उसका बाधक न होकर कारण ज्ञान का बाधक कोई आने वाला नहीं आत्मज्ञान का तो तात्विक प्रमाण जिस प्रकार है उसके कारण तो प्रमाण है तात्विक प्रमाण है वास्तविक प्रमाण है ये कहा यदि दूसरा ऐसी सिद्धांत ने कहा दूषित करते करके कहा था न बाधक प्रत्यय क्या है ना बाधक प्रत्यय अनुपत्य हाँ, बोल दिया था बाधक ज्ञान हो नहीं सकता उसका किसका ब्रह्म विद्या जन्य जो ज्ञान होगा उसमें बाधक ज्ञान नहीं है ब्रह्म विद्या या बाधक अनुपत्तम दृष्टान्त बता रहे थे ब्रह्म विद्या जन ब्रह्म ज्ञान विद्या मान ज्ञान बाधक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती पर दृष्टांत को सिद्ध करते कैसे यथा इत्यादि कहा हुआ भाष्य में यथा ब्रह्म विद्या विदेश यथा यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुतिया आत्मनिर्भर होते जैसे ब्रह्म विद्या विधान करने वाली श्रुति है उस श्रुति के द्वारा आत्मा को जान लेने पर त्यादि संघाते हम प्रत्यु बाध्य थे त्यादि में जो अहम बुद्धि होती तो बाधित हो जाता है तथा आत्मा ने अब आत्मा को होते आत्मा में ही आत्मा का ज्ञान हो गया पहले देहात्म बुद्धि थी वो तो बाधित हो गया किंतु आत्मा में ही आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है अहम ब्रह्मास्त्र भाव हो जाता है न कदाचित अभी बाधित कथन सके उसकी बुद्धि को कोई बाधने वाला नहीं होता आत्मा में आत्मा के ज्ञान हो किसी भी काल में किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होता का अवगत कहा फल उसका कैसा है ज्ञान के साथ साथ है फल अविद्या वृत्ति फल है उसका क्या ज्ञान के साथ साथ ठीक है अभी कहना है देहादि संघातवत अपने अर्थ जैसे देहादि संघात के बाधित हो जाता है आत्मज्ञान के द्वारा बाधित उस पर आत्मा में आत्मज्ञान का बात नहीं होता व्यतिरिक्त दृष्टांत है जैसे आत्मा का आत्मज्ञान होने पर देहादि संघात देहादि संघात में आत्मबुद्धि बाधित होती है उसी प्रकार आत्मा में आत्मज्ञान होने पर वो बाधित कोई आई व्यतिरिक्त दृष्टान है ठीक है देहादि संघात वक्त जैसे देहादि संघात का बाद हो जाता है आत्मबुद्धि का ऐसा वहां नहीं है लौकिक अवगतेरिव आत्मा अवगतेरिव आत्मा का अवगतेरपी फल अव्यतिरेक उदाहरण हो रहे जैसे लौकिक ज्ञान होता है कैसा अहम मनुष्य कभी कभी बोलता है कोई लोग तो माने वो बाधित नहीं माना जाता व्यवहार काल में ठीक इस प्रकार यहां भी आत्मा में आत्मज्ञान होना भी बाधित नहीं होता ये कहना है लौकिक दृष्टान दिया क्या अग्नि को उष्ण और प्रकाश बोला जाता है ये कहना है लौकिक अवते रिवा जैसे लौकिक ज्ञान में अग्नि को उष्णता आदि है आत्मा अवते रिवी आत्मा का ज्ञान अवबोधन है धातु है ना अवगति बन गया फल अव्यतिरेकम तत्काल फल है व्यवधान रहित फल नहीं है साक्षात फल है उदाहरण उदाहरण दिया जाए अग्नि का उदाहरण दिया हुआ है यही है अग्नि उष्णा प्रकाश है उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना यथा इत्यादि कहा में यही था यथा अग्नि उष्णा प्रकाश जैसे अग्नि उष्ण और प्रकाश साथ साथ है दोनों फल उष्ण साथ है उष्णता अग्नि के फल उष्णता साथ में ही है और प्रकाश भी उसका फल है अग्नि का फल है साथ साथ है ठीक है प्रकार ज्ञान और अज्ञान का साथ साथ है फल ज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान का फल है कर्म में विधि श्रुतिवध उत्तम दृष्टांत बिगड़ा चाहिए पूर्वादि ने अनुमान में सिद्ध किया था जैसे ब्रह्मकांड में श्रुति है कर्मकांड में श्रुति है ना हाँ, तात्विक प्रमाण का अभाव आपने सिद्ध किया ब्रह्मद्या श्रुति भी मानी तात्विक प्रमाण का अभाव वाली है क्यों श्रुतित्व श्रुतित्व हेतु है दोनों में कर्मकांड श्रुति के समान दृष्टांत है ये पूर्वादि ने कहा था दृष्टांत दिया था कर्म श्रुति को उसके समान आत्मविद्धि ब्रह्म विद्या भी मैंने अपान्नावृत्ति कहा था प्रमाण्य अभाववती बोला था वो दीक्षांत के विघटन करते थे सिद्धार्थ क्या करते हैं दृष्टांत ठीक नहीं दिया तो विघटन करते हैं क्या ना कहा सिद्धांत अतएव तो कर्म विधि श्रुति अप्रामाण्य कर्म श्रुति विधि में भी परमाण्य नहीं मान सकते हो वो भी प्रमाण है अब क्या काम करती हो पूर्व पूर्व तो स्वाभाविक संस्कार था उसको नाश करती हुई आगे नए नए संस्कार पैदा करती जाती है जो आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है आत्मा के अभिमुख कर देती है स्थिति करती है गलत संस्कार से अच्छे संस्कारों में ले जा रही है कर्मकांड श्रुति कहा पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरंतर पहले पहले जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती थी कर्मकांड स्मृति के आधार लेते थे पूर्व अवस्था में स्वाभाविक प्रवृत्ति उसके निरोध के द्वारा उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति अनश्य और आगे आगे जो अपूर्व पहले नहीं थे जो प्रवृत्ति उसको उत्पन्न करती हुई श्रुति प्रत्येगात्मा अभिमुख्य प्रत्येगात्मा की तरफ कराती हुई श्रुति उसके माध्यम से प्रवृत्ति उत्पादक उत्पादनार्थत्व वैसे प्रवृत्ति उत्पादक क्या होती है श्रुति का श्रुति ठीक है मैं कहा अनादिकाल प्रवृत्ति से स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति राम देखो अनादिकाल से प्रवृत्ति चल रही है स्वाभाविक प्रवृत्ति शास्त्रीय प्रवृत्ति है स्वाभाविक शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं है अनादिकाल से चल रहे चल रहे स्वाभाविक प्रवृत्ति है अनादिकाल प्रवृत्ति से अनादिकाल से प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो व्यक्ति है प्रवृत्तियां अनेक है और व्यक्ति प्रवृत्ति व्यक्ति अनेक है एक ही प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हुई स्वाभाविक प्रवृत्ति अनेक प्रकार की हुई है अनादिकाल से उन उन व्यक्तियों को जो प्रवृत्ति रूप व्यक्ति है उनका प्रतिबंध है ना उसको प्रतिबंध करते हो कौन कर्म का अनुसूति कौन श्रुति यही है प्रतिबंध है ना याग आदि उसके याग आदि प्रतिबंधक बनते हैं स्वर्ग आदि काम स्वर्ग आदि यज्ञादि स्वर्ग आदि के लिए अलौकिक प्रवृत्ति व्यक्ति जनाएगी तो ये याग आदि यही काम करते हैं पूर्व प्रवृत्ति का स्वाभाविक प्रवृत्ति नाश करते हुए हाँ, तो। यज्ञादि जो अलौकिक प्रकृति पैदा करते हैं जो पहले लौकिक प्रवृत्ति हो रही थी अब अलौकिक प्रवृत्ति पैदा कर देते हैं अंतकर्म प्रवृत्ति की तरफ ले जाते हैं कर्मकांड श्रुति यह काम करती है तत्जनम से माने अलौकिक प्रवृत्ति के जनन जनन उत्पन्न करती है का उसका जनन कैसा चित्त शुद्धि द्वारा किसके द्वारा अंधकरण शुद्धि के द्वारा शास्त्रीय कर्म करने से अंधकरण की शुद्धि होती है चित्त शुद्धि द्वारा प्रत्येगात्मा अभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादन है फिर वो उत्पन्न होती हुई प्रवृत्ति क्या करती है आत्मा प्रत्येगात्मा की तरफ अभिमुख कर जाते तो थे वही प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है आत्मा की तरफ भी जाएगा व्यक्ति वो हम हाँ, पुत्र अहम इत्यादि विषय मैं कौन हूं कहां से आया हूं इत्यादि सोचता है तब ये शास्त्रीय संस्कार जगने के बाद तथा च कर्मवीर श्रुति नाम पारंपरियण प्रत्यगात्म प्रत्येगात्मक ज्ञानार्थत्व इसलिए क्या सिद्ध होता है कि कर्मकांड विधि श्रुति परंपरा से साक्षात ने परंपरा से जो अंतरात्मा का ज्ञान के लिए होती है किसके लिए हम ब्रह्मास्म ज्ञान के लिए हो जाती है परंपरा से इसलिए तात्विक प्रमाण सिद्धि इसमें तात्विक प्रमाण है वास्तविक प्रमाण है एक पक्ष में कहा आगे पूर्वादि की शंका मीमांसा कर रहे ननु एवं तो ऐसा मानने पर भी परंपरा से आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है इसलिए तात्विक वास्तविक प्रमाण इसमें भी है किसमें का सिद्ध आपने कहा एवं अति तो ऐसा मानने पर भी श्रुतिर मिथ्यात्व तो श्रुति मिथ्या ही है ना धर्माभासवत अप्रामाण्यम जैसे धूम का आवास से अग्नि की सिद्धि नहीं होगी कोहरे जो कोहरा दिखाई दिया कोहरे से अग्नि की सिद्धि हो क्या पहाड़ में बरसाती तो कोहरा आ गया तो पर्वतों पर निवान कर सिद्ध कर पाएगा उसे धूमाभास है धूम जैसा लगता है धूम नहीं है अच्छा धूली पटक हावा के कारण धूल भर गया पर्वत में तो पर्वतों पर निमान अनुमान करके सिद्ध करेगा उस काल में क्यों वो धुआभास है ठीक प्रकार स्मृति का आवास है वास्तविक श्रुति तो है ही नहीं कर्मकांड श्रुति ये पूर्वाजी कहा आपके दृष्टि में वास्तविक नहीं है श्रुति मिथ्या श्रुति मिथ्या आपकी दृष्टि कौन का श्रुति मिथ्या है धोमाभाष अप्रमाण जैसे से अग्नि के लिए धोमाभाष अप्रमाण होता है प्रामाण्य नहीं आएगा धुमाभास अग्नि सिद्धि के लिए धूम से अग्नि की सिद्धि होती है धोमाभाष से धूली पटल अथवा कोहरा आ गया उसको लेकर अनुमान कर देंगे पर्वतों का निर्माण धुमात सिद्ध होगा ऐसी प्रकार ये श्रुति ऐसी है मिथ्या है आपकी दृष्टि में ये पूर्ववादी बोल रहे हैं अपरामण फिर भी अपरामण आयु का कर्म कर मिथ्या ऐसा कोई मीमांसक शंका करे तो सिद्ध ना ऐसी बात नहीं है मिथ्यात्व भी स्वयं श्रुति मिथ्या होने पर भी क्योंकि सिद्धांत में कहा तत्र वेदा अवेदा भवंती है माता माता पिता उस स्थिति में स्वरूप में पहुंच जाता है व्यक्ति और वेद अवेद हो जाते हैं वेद वेद नहीं रहेंगे जो वेद जन्य कार्य करने वाला नहीं रहता वेद ही नहीं वहां एक व्यवादित्य भाव में पहुंचा हुआ होता है तो कहां वेद रहेंगे कहां माता कहां पिता कोई तो नहीं है उसका सब ये व्यवहार में सारे के सारे व्यवहारिक प्रभाव में ये सब चलते हैं ये सिद्धांत का कहना है पारमार्थिक वास्तविक प्रमाण में कोई नहीं होता अकेला होता है व्यक्ति ये चेतन एक होता है तो तत्र वेदा अवेदा भवत इत्यादि है इसलिए क्या होगा श्रुति तो मिथ्या है आपके दृष्टि में वेदांत की दृष्टि में तो धूमाभास जैसे धूमाभास के द्वारा अग्नि की सिद्धि नहीं होगी उस प्रमाण नहीं आएगा धूमाभास से अग्नि की सिद्धि नहीं कर सकता धूमे प्रमाण उस धूमे प्रमाण नहीं है कहते हैं मिथ्यात्व भी आराम उपाय मिथ्या होने पर उपाय सत्य होने के कारण श्रुति मिथ्या भी मान लिया जाए फिर उसके द्वारा प्राप्त वस्तु क्या है आत्मिकत्व है हम ब्रह्मास्मि वो सत्य होने के कारण उसी को भी सत्य माना जाएगा क्या माना जाएगा उपाय सत्य होने के कारण उपेय सत्य होने के कारण उपेय मान प्राप्ति साध्य ये कहा मिथ्यात्व तो नाम ये कहा था उपाय मिथ्या होने पर भी उपेय सत्यता है उपेय प्राप्त वस्तु जो है ना आत्मिकत्व विज्ञान प्राप्त करना उसके लिए साधन है स्मृति कौन कर्मणानुस्मृति उपेय सत्यता है उपेय जो प्राप्त वस्तु है आत्मकत्व विज्ञान प्राप्त करना और प्रभाष में इसके लिए सत्य वो सत्य होने से सत्यत्व व्यव उस मिथ्या होने पर सत्य मानो क्यों उपाय उपेय सत्य होने के कारण उपाय मिथ्या भी सत्य ही है उसी के माध्यम से मिलता है वो यथा अर्थवाद जैसे अर्थवाद वाक्य आ गया वो स्वयं सत्य नहीं है मिथ्या है होते हुए भी विधि के लिए पुष्टि कर देता है विधि वाक्य के साथ मिलकर करता आता है ठीक है मैं कहना है यथा मंत्रार्थवाद इतिहास पुराणान देखो मंत्र माने पारिपल्लवादी कथा की पारिपल्य कथा की चर्चा है ब्रह्मसूत्र में यज्ञ करते रहते यज्ञ करते करते कुछ काल कुछ कथा का सुनना है इत्यादि ऐसा ऐसा था यह था वो था इत्यादि इतिहास आदि तो उसको मंत्र बोलते हैं अर्थवाद वाक्य है मंत्र हो पारिपल्य आदि जो कथा हो अथवा पारिप्रवाद कथा अथवा अर्थवाद वाक्य जितने होते हैं अथवा इतिहास स्वतः प्रमाण कोई भी नहीं है इतिहास किसी द्वारा बनाया हुआ है स्वतः प्रमाण नहीं है और पुराण स्वतः किसी के द्वारा बनाया गया व्यासी नहीं रहता है और पौरुष तो है ही नहीं है तो स्वतः प्रमाण नहीं माने जाते किसके द्वारा वेद से यदि विरुद्ध नहीं बोलते तो प्रमाण है वेद के साथ इसको प्रमाणित किया जाता है इन वाक्यों को पुराणों में वेद से अविरुद्ध है इसे पुराण को मैंने प्रमाण मानते हैं स्वतः प्रमाण नहीं पुराण वेद से प्रमाणित होता है भगवत गीता को हम प्रमाण मानते हैं मनुस्मृति को प्रमाण मानते हैं सांख्य स्मृति को अप्रमाण मानते हैं हमारे माने से होगा वो कहेंगे जैसे तुम्हारे भगवान ने कहा वैसे हमारे भी यहां कपिल जी ने कहा हुआ है सांख्य तो प्रमाण है हाँ। वैसे बोलेंगे तो क्या तर्क देना होगा भगवान ने कहा करके हम उसको प्रमाण नहीं मानते भगवदगीता को क्या मान सुनते हैं वेद से अविरुद्ध बोलती है इसे प्रमाण है और सांख्य स्मृति वेद से विरुद्ध बोलती है इसलिए अप्रमाणिक है तो जैसे इतिहास आदि वाक्य हैं पुराण आदि हैं स्वतः प्रमाण न होने पर भी प्रमाणित प्रमाण माने जाते हैं गीता तो गीता तो जो है के मुख से कही हुई है थे? तो वो तो पौरुषे है गीता श्रीमद गीता हाँ। तो उसको उसको कैसे आप हम प्रमाण को प्रमाणित मानते हैं वेद से अविरुद्ध बातें हैं वेद से अविरुद्ध बोल इसलिए प्रमाण है इसलिए नहीं तो सांख्य आगे बोलेंगे हमारी स्मृति भी तुम्हारी स्मृति के समान है कपिल जी ने तो कहा प्रधान से सारा जगत होता है उत्पत्ति स्थिति लय का कारण प्रधान और कोई नहीं ऐसे मानते हैं तो कैसे खंडन करेंगे तो, तो इतिहास हो पुराण हो सब बनाए हुए हैं पुराण भी बना व्यास जी ने रचा है ना वेद के ही संक्षिप्त भाग को लेकर के पुराण बना दिया है वो अर्थ सब समझ नहीं सकते जैसे सत्यम बदा तैतृपनिषद में कहा है सत्यम बदा वह कुछ कहा नहीं सत्य बोलने से क्या होगा नहीं होगा कोई फल बताया नहीं केवल सत्यम सत्य बोलो इतना बाकी आया उसके बाद देवी भाव का तो ष्ठ स्कंध है पूरा हरिचंद्र राजा को उपाख्यान जाके रख दिया सत्य बोलने से स्वर्ग जाता है अंतिम सिद्ध होगा जनसाधारण को समझाने के लिए इतने व्याख्या करनी पड़ी व्यासी को सत्यम पद के ऊपर स्थिति ऐसी है तो पुराण आदि में भी प्रामाण्य आता है जिस वेद के कारण से आता है इस प्रकार यहां भी उपेय सत्य है माने यह पुराण आदि के द्वारा जानना होता है वेद के अर्थ को जानना होता है वहां संक्षेप में कहा हुआ होता है या विस्तार करके समझाया जाता है रूपक बना करके पुराणों में किसी एक देवता विषय को लेकर के चलते हैं वहां एक आत्मभाव से चल रहा था वेद में क्या चल रहा था उसका एक एक देवता का भी श्री कृष्ण है कहीं राम है कहीं कुछ है विष्णु है इत्यादि लिए चलते हैं व्यास व्यास जी ने ऐसी से कल्पना करे जनसाधारण समझ सके उस तत्व को इसके लिए तो कहते हैं <clears throat> मंत्र अर्थवाद इतिहास मंत्र है अर्थवाद है इतिहास है पुराण है इनमें श्रुते है अर्थ है सुना हुआ अर्थ में तात्पर्य नहीं है श्रुते अर्थ है प्रामाण्य भाव भी जैसे पुराणों में सुनाई पड़ता है सब प्रमाण नहीं माना जाता उसको सुना हुआ विषय में फिर भी शेष विधि अनुरेदन उसका तात्पर्य कहां है उसको लेकर के प्रामाण्य जैसे प्रामाण्य माना जाता है इतिहास है पुराण है मंत्र अर्थवाद आदि है इनमें प्रामाण्य न अलौकिकम इत्याह प्रामाण्यवत प्रकृति भी श्रुति जो प्रकृति श्रुति अभी जो श्रुति चल रही है कर्मकांड श्रुति कौन सी श्रुति यही है प्रकृति श्रुति स्वरूपेण असत्यतया स्वरूप तो कर्मकांड सिद्धि असत है मान मिथ्या है मिथ्या होने पर भी विषय सत्यतया उसका विषय अंत में जाके ज्ञान होना आत्मज्ञान होना क्या है वही वहां पहुंचाने वाला है वो विषय सत्य होने के कारण सत्यत्व ये भी सत्य मान्य में प्रामाण्य में सत्य होने पर प्रामाण्य जिसमें कर्मकांड सिद्धि है प्रामाण्य है स्वयं असत्य होने पर भी ये कहा वाक्य से शेषी अनुरूप शेष विधि अनुरेदन प्रामाणम न अलौकिकम कहते हैं वाक्य जो है ना श्रुति वाक्य जो आया है वाक्य कहीं भी होता है शेष विधि जो उसके अंगी होगा कौन होगा जैसे अर्धवाद आदि अंग है विधि शेष के लिए शेषी जो विधि अनुरोध है प्रामाण्यम न अलौकिकम अलौकिक नहीं इतिहास तो लोक में भी देखा है लोक में भी देखा है क्या बोला जाता है कहा लोके भी कहा था भाषा लोके भी बाल उन्मत्तादि नाम जो बालक हैं भ्रांत लोग हैं उनको पाया आदि पाया पाई तभी पाया आदि पाई तभी दूध आदि पिलाने का प्रसंग आ जाए नहीं मान रहा हो नहीं पीऊंगा तो बोलता हूं तो चूड़ा वर्धन आदि वजन वो जो दूध पिलाने जो चाहते हैं उसको क्या मानते हैं तेरी चोटी पड़ेगी चूड़ा बनी चोटी ये वचन बोल झूठ बोला जाता है असत्य के सहारा लेकर के उसके रोग आदि निवृत्ति करना क्या करना है हाँ, तथा सत्यम समझते भैया व्याकरण में कहा जाता है शुद्धि उपास्य जो सबसे पहले सिद्ध करते हैं शुद्धि उपास्य समस्त पद है वो सुधि भी उपास्य शुद्धि उपास्य तृतीय समास है वहां विद्वानों के द्वारा ज्ञानियों के द्वारा उपासना जिसकी की जाती हो उपास्य उसको शुद्धि उपास्य कहा जाता है ज्ञानी लोग जिसकी उपासना करते हो उसको शुद्धि उपास्य बोला जाता है तो ये समस्त पद है शुद्धि उपास्य एक पद है अब सिखाते समय क्या करते हैं सुधि धन उपास्य ऐसा वैसा लिखते हैं सुधि धन उपास्य जोड़ सुधि के आगे जोड़ का चिन्ह उसके आगे उपास्य फिर यहां कई सूत्र लगाते रहेंगे इधर उधर करके किंतु वो गलत है प्रयोग कैसे गलत पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र बोलता है संहिता विषय में इको इको आदि सूत्र की प्रवृत्ति होती है संहिता होनी चाहिए पर तो अत्यंत वर्णों की तो अत्यंत संयुक्ता है उसको संहिता कहा जाता है अत्यंत किस को लेकर संहिता देश को लेकर के संहिता काल को लेकर संहिता एक वर्ण सुबह उच्चारण कर दिया दूसरा वर्ण सायकाल उच्चारण करता है तो वहां शाब्दबुद होगा कि नहीं होगा तो राम प्रातकाल बोल दिया था सायकाल जा गच्छते ही बोलेगा तो श्रोता को जानकारी होगी राम जाता है काल की सान्निध्य चाहिए क्या चाहिए काल की सान्निध्य पूर्व वर्ण उच्चारण के पश्चात अव्यवहित उत्तर वर्ण का उच्चारण होना चाहिए उसी में संहिता रहती है ये परस निष्कर्ष कर्ष संहिता सूत्र बोलता है वर्णों अत्यंत शांति पर किसमें शांति पर काल में फिर हाँ। पूर्व वर्ण के उच्चारण से ठीक उत्तर काल में उत्तर वर्ण ठीक उच्चारण होना चाहिए तभी श्रोता समझेगा रकार आका, आकार मकार आकार विसर्ग पर करके राम बनता है प्रातकाल र बोल के छोड़ दिया हाँ और दस बजे आकर के आ बोल दिया और बारह बजे बोलेगा म और चार बजे बोलेगा अ और शाम में बोलेगा विसर्ग तो सुनने वाला समझेगा क्या बोला इसने काल के क्या है व्यवधान है साधुबोध नहीं हो सकता उसको श्रोता को तो वर्णाणाम पर संगीता का अर्थ ही होता है वर्णों के अत्यंत सान्निध्य हो उसको संगीता कहते हैं संगीता के विषय संधि है कहां है संगीता कहां कहां नित्य होती है कहां कहां नित्य होती है वाक्य पदियों में भरतृह जी ने कहा हुआ है संगीता ही का पद है नित्या नित्या उपसर्ग उपसर्गयो नित्या समाज से वाक्य हेतु तो सा विवक्षा अपेक्षती भरतृह जी बड़े वैयाकरण थे उन्होंने वाक्य पदीय नाम के ग्रंथ लिखा है उसमें कहा है एक पद में संगीता नित्य होती है राम एक पद है कितना पद है उसमें संगीता नित्य होती है नहीं र तो आगे फिर दो घंटे बाद म ऐसा करने संहिता नहीं रहेगी उसमें रकार के ठीक उत्तर काल में आकार का उच्चारण होना चाहिए आकार के ठीक उत्तर काल में मकार का होना चाहिए मकार के ठीक उत्तर काल में आकार का फिर आगे विसर्ग तभी राम हाँ। एक पद में संहिता नित्य होती है नित्या धातु उपसर्ग धातु और उपसर्ग में भी संहिता नित्य होती है हाँ, व्यवहार नहीं करना आगच्छति बोलना होगा आ बोल देना प्रातः शाम को गच्छति बोलेगा क्या समझेगा वो गच्छति का जाता है आगच्छित बने आता है तो आ बोल दिया था काल गच्छति बोलेगा सायकाल अब व्यवहित जाइए आकार के उच्चार के बाद आकार उपसर्ग है और आगे धातु है गम तो तत्काल गकार का उच्चार होना चाहिए तभी उसको को बोध होगा आगत में आता है धातु और उपसर्ग में भी संहिता नित्य होती है संहिता ही का पदे नित्या नित्याधार उपसर्ग उपसर्ग और धातु में भी संहिता नित्य होती है सामिप्य नित्या समास है समास में भी नित्य है संहिता किंतु वाक्य तो जो वाक्य बोला जाता है राम गच्छति थोड़ा रुक करके भी होता है वाक्य में एक तिंग वाक्य हम जब तिंग का प्रयोग करते हैं क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वाक्य कहलाता है भैया करने कहते एक तिंग वाक्य में जब तिंग लग जाता है तिप्तसी आदि लग जाए तो वाक्य हो जाता है गच्छति पठती आदि क्रिया पद है उनके द्वारा वाक्य पूरा होता है तो जब हम शुद्धि उपास में देखते हैं ये समास है नित्या समास है कहा हुआ है समास में नित्य संहिता होती है सुधी भी उपास्य इत्यादि करना संभव नहीं सुधी उपास्य इसको पदछेद करना संभव नहीं है क्यों संहिता नित्य होती है सुधि के उकार के उच्चारण को ठीक उत्तर काल में उकार का उच्चारण होना चाहिए उच्चारण शुद्ध उपास्य होना चाहिए क्या होना चाहिए फिर भी हम क्या करते हैं लिखते हैं बोलते हैं सुधी धन उपास्य क्या है वो शिक्षा दिए जा रहे हैं जिनको बालकों को उनके लिए उपाय है ऐसा करना क्यों वो पद थोड़े बिना समझेगा नहीं संधि कैसे करे जाने का नहीं क्या संधि हो रही थी शुद्ध उपास्य में समझेगा नहीं तो उसे समझाने के लिए मैंने सही को तोड़ करके गलत करके फिर सही बनाया जाता है उपाय शिक्षण नाम बालाना नाम ऐसा असत्य वर्तमान शुक्वा तथा सत्यम सभी कहा हुआ है उपाय होते हैं एक इसलिए भी ये श्रुति उपाय है किसके सत्य युद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय हैं कर्मकांड श्रुति इसलिए प्रामाण्य है इसमें अप्रामाण्य नहीं मान सकते श्रुति को ये कह रही आगे टीका में कहा था कर्मकांड श्रुति नाम उपतरित्या परंपरा है प्रामाण्य थी कर्मकांड श्रुति पूर्वोक्त तरीके से है मान ज्ञान के लिए होते हैं आत्मज्ञान के साधन के रूप में होते हैं इसलिए प्रामाण्य है कहने पर भी साक्षात प्राण उपेक्षितम पूर्वाधिवत साक्षात प्रामाण्य ने स्वीकार नहीं किया आपने कर्मकांड स्थिति को आत्मज्ञान में साक्षात प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया परंपरा से प्रामाण्य माना आपने ये शंका आगे तो कहते हैं प्रकारांतर अरे साक्षात प्रामाण्य भी कर्मकांड स्थिति में कहा अपने प्रकरण में जब रहते हैं ज्ञान कांड प्रकरण से अलग प्रकरण है कहां है वो अपने प्रकरण में प्रकार प्रकारांतर स्थान का प्रकार भिन्न प्रकार ज्ञान ज्ञान का प्रकार से भिन्न प्रकार अपना प्रकरण है वो जब साक्षात प्रमाण से साक्षात प्रमाण है वो कर्मकांड श्रुति एक सिद्धांत है आत्मज्ञानोदयात प्राग अवस्था प्रकारांतर प्रकारांतर स्थान बोला हुआ है तो प्रकारांतर क्या है आत्मज्ञान उदय होने से पूर्व अवस्था को प्रकारांतर अज्ञान काल है आत्मा का ज्ञान नहीं उस काल में कर्मकांड से साक्षात प्रमाण है प्रमाण मान करके स्वर्ग आदि यज्ञ करता है व्यक्ति आत्मज्ञान उदयात प्राग अवस्था आत्मज्ञान उदय होने से पूर्व अवस्था को प्रकारांतर का कारण है तत्र स्थित न प्रकारांतर में जो स्थित है आत्मज्ञान के उदय होने से पूर्व अवस्था में जो स्थित है कौन कर्मकांड श्रुति वह कर्मकांड में स्थित है जो श्रुति कर्म श्रुति नाम जो कर्म को बताने वाली श्रुति है यज्ञादि कर्म बताने श्रुति नाम अज्ञात संबंध बोध गया अज्ञात स्वर्ग आदि का संबंध का ज्ञान कहा साथ ही साथ संबंध अज्ञात थे हाँ। फल का भी ज्ञान नहीं है स्वर्ग क्या है साधन का भी ज्ञान नहीं था साथ ही साथ तुम तो स्वर्ग चाहो तो यह साधन है ये चाहो तो चाहना तो पहले से उसके किंतु उसके चाहना के आधार पर तुम ये चाहते हो ये साधन है तुम तो ये कहा इतना बोलती है तो तत्र स्थित कर्मकांड स्थितान कर्मश्रुति नाम अज्ञात संबंध बोधकत्व अज्ञात के साथ अज्ञात पदार्थ स्वर्ग आदि हैं उसके साथ संबंध दिखाता है साक्षात एवं प्रामाण्य उष्टम साक्षात प्रामाणिक भी इष्ट है किसमें कर्मकांड शक्ति में आत्मज्ञान के पूर्व अवस्था में अपने कर्मकांड भाग में जब तक है तब तक साक्षात प्रमाण है उनमें पूर्व पूर्वम कर्मश्रुतान व्यावहारिक व्यावहारिक प्रामाण्य दृष्टांत ज्ञान से पहले आत्मज्ञान से पहले कर्मकांड श्रुति में भी व्यावहारिक प्रामाण है कौन सा प्रमाण है दृष्टान्त में दृष्टांत दिया कैसा प्राग आत्मज्ञाना देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत कहा जैसे देहा या आत्मज्ञान से पहली अवस्था में देहादि में जो प्रत्यक्ष मैं मनुष्य हूं ये कोई रोक नहीं सकता आत्मज्ञान होने से पहले हम मनुष्य है ऐसा किसी को रोक नहीं पाएगा जैसे प्रामाण्य है इस प्रकार कर्मकांड से भी प्रामाण्य इसको दृष्टांत बना दिया देहादि में आत्मबुद्धि आत्मज्ञान के पूर्व अवस्था की आत्मबुद्धि को कोई रोक नहीं सकता तो प्रमाण माने प्रमाण माना जाता मैं मनुष्य हूं का तो ठीक बोल रहा हूं यदि माने उपनिषद पर जो मैं मनुष्य हूं तो गलत बोलता है मैं मनुष्य नहीं बोल पाएगा वहां आत्मा को लेकर के चल, चलना होगा ये स्थिति है एक कहना समय हो गया है यह रखते फिर कर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण